और ताकि अल्लाह ताला उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरक मर्दों और मुशरक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह ताला के बारे में गुमान रखने वाले हैं बुरा गुमान बुराई का चक्कर दरअसल उन्हीं पर है और उन पर अल्लाह ताला गुस्से हुआ और उसने उन पर लानत की और उनके लिए जहन्नुम तैयार कर दी है और बहुत ही बुरा वो ठिकाना है